बिखरी हुई बातें उतारनी हो तो उतार एक विषय को लेकर के अभी प्रवचन आरंभ नहीं होगा कभी आप ये सोचें पीछे स्वामी जी ने सूचना भी नहीं दी अब रख दिया तो इसको क्या उठाऊं अब अनेक बातें हैं उनका सशक्तिकरण उनमें कैसे हमको रुख बदलना है कहां कहां पर क्या करना है कैसे करना है ये बहुत बड़ा दिमाग इसमें लगा हुआ रहता उनमें से मैं आपके सामने कुछ बातें रखता जाऊंगा सोचते गए एक बात आती रहती है और ये स्वाभाविक है आया ही करती है अथवा कुछ लोग जानबूझ के उठा लेते हैं किसी भी व्यक्ति को हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी त्रुटि दिखती हो कोई दोष दिखता हो तो वो हमारे सामने कहे दूसरों के सामने न कहे और बार बार कहीं निशा माने ही नहीं बात आपकी ठीक है तो उसका प्रचार करेंगे क्या समझ माना नहीं आया समझ में बोलो क्या समझ में आया जो कोई त्रुटि हमारे इस कार्य में देखती है कहीं भी देखती है उसमें निसंकोच बिना भय के आप हमारे सामने कहो पीछे और ये जान लेना हम व्यक्ति को निर्भीक बनाते हैं हमारी त्रुटि कहने वाले को हम अच्छा मानते हैं हमारी त्रुटि हमारे सामने कहने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं और हमारी त्रुटि हमारे सामने न कहकर दूसरे के सामने कहने वाले को क्या मानते हैं ये व्यवसाय को नहीं मैंने बड़ा भरोसा कही तो आपने इतना जो कुछ जीवन दान दे रखा है ये भगवान तक पहुंचाने की आपकी एक सीढ़ी है और ये आप आपने हमें उसका ठंडा पकड़ा लिया उसको नृत्य रहे और फिर आपका हम विरोध करें हाँ, हाँ चलो तो उसमें ये समझने का विषय है इसलिए ऋषि की बात को भी जोड़ो जो सज्जन लोग होते हैं ऋषि दान का भाव सुना रहा हूं जो अच्छे आचरण वाले लोग स्त्री पुरुष होते हैं वे जिसका दोष हो उसके सामने उस दोष को सुनाते हैं और उसके गुणों को दूसरे के सामने सुनाते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो गुण उसके सामने कहते रहते हैं और दोष पीछे से बताते हैं ध्यान देना एक सौ भाव आज के व्यक्ति का और प्रबल हो गया है भारत की स्थिति के अनुसार वो ये हो गया है यदि इसकी बात इसकी दृष्टि से भी किसी व्यक्ति के कोई दोष बताता है तो वो व्यक्ति उसका अत्यंत शत्रु बन जाता है द्रवदी बन जाता है उसको बुरा समझता है पीछे से वो कितने ही दोष कहता रहे कितना ही प्रचार करता रहे उस व्यक्ति के दोषों का यदि उसके सामने कह दिया जाए कि आप में ये त्रुटि है या दीखती है तो अत्यंत विरोध करता है और उस व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखने लगता है आज की स्थिति भारत की प्राय हम इससे उल्टा उत्तर आप हमारी त्रुटियों को हमारे सामने जितना कहेंगे और उसमें जो त्रुटि होगी उसको मान लिया जाए और जो त्रुटि नहीं होगी उसको समझा दिया जाए परंतु आपका वो कथन बुरा नहीं माने जाएगा न डरने की आवश्यकता ये प्राय मन में शंका रहती है कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे हमको बुरा मानेंगे और प्रचार भी कर देंगे देखो ये मेरे अंदर ये दोष देख रहा है तो ध्यान देना कि जो त्रुटि दिखती हो वो हमारे सामने है और आपको ठीक समझाने का प्रयास करेंगे और जो त्रुटि होगी वह मान ली जाएगी जो नहीं होगी समझा दिया जाएगा हमारी पद्धति शैली है आप सोच सकते हैं जो बातें चलती है पत्रों के माध्यम से प्रचार के माध्यम से आप स्वभावत व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति स्वार्थी होते हैं जैनी होते हैं वो अच्छे काम को रोकने का प्रयास करते हैं इसलिए महर्षि दान ने एक बात कही है ध्यान देना कि जब व्यक्ति सार्वजनिक हित में सार्वजनिक हित को दिमाग पर रख करके काम करता है सबके हित के लिए तो स्वार्थी लोग जो होते हैं उसका अवश्य विरोध करते हैं स्वाभाविक बात है कोई नई घटना नहीं तो उस स्थिति में कितनी बातें ऐसी आती हैं जो इसके विरोध में प्रचारित की जाती है इस हमारे काम में और उन बातों को यदि वास्तव में देखा जाए तो हम समझते हैं सुनते हैं आपको सुनाएंगे लोग कि भाई स्वामी जी और ये तो यहां पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं जो कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं वो आप सुन सुना के रह जाएंगे अथवा कि यहां हो सकता है ऐसा ऐसा तो ये जो स्थितियां उभर के आती हैं ये काम को बिगाड़ती हैं और धीरे धीरे लोगों का दिमाग बदल देती है और लोग सहयोग देना बंद कर देते हैं और ये हमारे काम में बाधा खड़ी होती है तो जो भी ये चीजें उभरती हैं उनमें जो आपके पास आए कोई ऐसी चीज तो हमसे संपर्क करें हम उसका वही उत्तर देंगे आप हो सकता है आजकल की रीति के अनुसार ऐसा सोचना आरंभ कर दें कि ये स्पष्टीकरण नहीं करेंगे इधर उधर दबाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा हम प्रमाण से सिद्ध करेंगे इसमें हमारा कोई दोष नहीं और ये दोष हो गया तो उसको स्वीकार करेंगे तो उदाहरण के रूप में ले लो कुछ लोग प्रचार करते लेख से भी लिखते और उसमें ये लिखा हुआ होता है स्वामी जी ने वो ट्रस्ट न्यास बनाया है और धन ऐठ रहे हैं और धैन ऐठने का काम सीखना हो तो स्वामी सत्यपति जी को तो ये ये और वो आप भाषा सुने तो जाते हम तो सुनते ही रहते भाषा है लेख है उपदेश है सारा सुनते हैं जो कुछ बुराई दुनिया में एक व्यक्ति में हो सकती है वो प्रचारित की जाती है आजकल पत्रों के माध्यम से तो ये ऐसी जो स्थितियां हैं आपको ठीक उत्तर देंगे हम हमसे कोई यदि त्रुटि हुई तो वो ज्यो की क्यों बताएंगे कि ये त्रुटि हमसे हुई है इसका प्राश्चित आगे नहीं होने देंगे अड़ेंगे कभी नहीं दबाएंगे कभी नहीं पर आज आप जानते हुए कथा आ आती है वो भी आपको सुनने की है एक महान याज्ञवल के ऋषि हुए बहुत बड़ी कथा राजा जनक के साथ आती है एक बार राजा जनक ने उनके उद्देश्य को मैं समझता हुआ ऐसा किया कि मैं कोई वेदता गुरु को प्राप्त कर और ब्रह्म विद्या को सीखू और अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया और विद्वानों से पूछा गया हे विद्वानों मुझे ये बताओ आप में से ब्रह्मविद्ता कौन है जिसको एक हजार गौ और जिनके सींग सोने से मंडे हुए एक एक छीन पर कोई माप होता होगा इतना सोना एक छीन पर इतना ही हजार को दान में दूंगा उसने जब ये घोषणा की इतने विद्वानों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया केवल एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैं ब्रह्म बेता हूं लंबी कथा है गार्गी भी वहीं आप मुझे गार्गी कोई बनेगी या नहीं बनेगी बनेगी कोई हिंदू जी कुछ तो है बनने का विचार आवाज तो सुनाई नहीं देती जोर से करो हाँ तो गार्गी भी थी वहां एक एक विद्वान प्रश्न पूछता जाता है और एक महान ऋषि उत्तर देते जाते हैं महान विद्वान उत्तर देते देते देते देते चलते जा रहे हैं और विविध प्रकार के लोग होते हैं एक व्यक्ति का तो परंपरा के कारण उसका नाम था विदग्ध साकल्य इसका शब्दार्थ है तो विदग्ध अच्छी तरह से जला बना जला बना दग्ध कहते जले हुए को और विशेष रूप से दग्धई की विदिग्ध क्या समझे दग्ध का है इदम अन्नम दग्धम वर्तते क्या हुआ ये इम रोटी का दग्धा अस्ति हो गया रोटिका विदग्धा अस्ति तो उसका नाम था विदग्ध शाकल्य और वो जिस समय वो दान और वो गौये याजीवन के, के यहां गई वो जल उठा पूरी तरह से विदग्ध शाकल्य नाम था और वो एक एक प्रश्न ऐसे उठाता गया वो उत्तर देते गए उठाता गया उत्तर देते गए इतना भयंकर आग लग रही थी उसमें इसने ये कहां का ब्रह्म देता है इसको मैं हरा के छोड़ूंगा क्या हराने की बात थी एक एक उत्तर देते गए देते गए बहुत बड़ी कथा है और गाय की पहले प्रश्न कर चुकी थी उत्तर दे चुके थे सबके प्रश्नों को सुनने के पीछे गार्गी दोबारा आई हे विद्वानों मैं इस विद्वान से दो प्रश्न और पूछूंगी यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देता दे देता है तो निश्चित रूप में ब्रह्म देता है तुम हराने की बात मत सोचो नमस्ते करके चले जाओ दो प्रश्न उठाए और उत्तर दे दिया फिर कालजी बोलती है हे विद्वानों ये ब्रह्म वेदता है तुम इसका हराने की बात को छोड़ो और नमस्ते करके चले जाओ गार्गी निर्णय दिया था इतना बड़ा इतनी विदुषी थी ये निर्णय दे दिया ब्रह्म वेदता है तो मैं एक बात क्या कहना चाहता हूं हमने ये काम चलाया ब्रह्म विद्या सिखाई सिखाते हैं दर्शनों को पढ़ाया और इसकी ख्याति विदेश तक पहुंच गई आज ये विद, विदग्ध साकल्य इसको सहन नहीं कर सकते एक से एक बढ़ के आता है अपने अपने ढंग से मुंह दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं ये भयंकर आग लगी हुई है पर हम हारने वाले तो सत्यमय जय के नाम रीतम इतने हम कमजोर बिल्कुल नहीं है और आचरण से हम बिल्कुल ऐसे कमजोर नहीं है कई आचरण से कर्म कमजोर होने पर व्यक्ति मार खाता है अथवा इधर उधर होना चाहता है और बौद्धिक स्तर कमजोर होने पर भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता हम दोनों में समर्थ दोनों में समझे समर्थ सर्वस्व की आहुति दें हम असत्य पक्ष को सर कपट के पक्ष को नहीं अपनाएंगे वो जो असत्य सिद्ध होगा उसको स्वीकार करेंगे और फिर आगे नहीं होने देंगे मनुष्य अल्पज्ञ है और असावधानी के कारण यदि कारणों से भूल हो सकती है तो वो स्वीकार महर्षि सिद्धांत कहते हैं इनके पास में कोई उत्तर नहीं है हजारों प्रश्न उठाए जा सकते हैं इनके उपास में कोई उत्तर नहीं है उनका यह उत्तर तो यही है कि अपनी भूल को भूल मान ले तो ये दग्ध साकल्य वाली स्थिति उत्पन्न हुई और वो जो स्थिति जब हमारे सामने हो तो हमें एक तो आचरण की दृष्टि से फिर बौद्धिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से जितनी शंका उभर के आए उनका उत्तर हम दें आचरण की दृष्टि से हमें छल कपट लोभ लालच कोई भी नहीं जीवन में उस दृष्टि से भी हम समझ तो ये जो स्थिति आती है इस स्थिति में हम भी अत्यंत सावधान रहेंगे और आप भी सावधान रहना आप कहां कहां से आते हैं कितने प्रांतों से आते हैं जहां जहां ये बातें चलेंगी चलती हैं प्रचारित होती है वहां वहां पर उस बात को सुन करके उसका पता लगाना और उसका उत्तर किसी भी रूप में देना उस प्रचलन को रोक देना वहां का वहां ये नहीं कि झगड़े करना नहीं समझे बात आपको सुनाई दे दी और गया किया आपने कुछ भी नहीं उस सामने वाले ने जो खूब आरोप लगाए आप चुप रहे पर ध्यान देना कई बार हमको प्रेम से उत्तर देना ही चाहिए प्रेम से उत्तर दे झगड़ा करके नहीं एक व्यक्ति ने खूब आरोप लगाए एक बात की घटना और वो सुनते रहे एक ब्रह्मचारी उसने मेरे सामने कथा सुनाई तो मैंने कहा आप सुनते रहे और बोले कुछ भी नहीं जबकि गलत आरोप लगा रहा था हाँ मैंने कहा देखो गलत आरोप कोई लगा रहा हो तो वो सुनते रहना अच्छा नहीं है उत्तर देना है प्रेम से झगड़े के लिए अगली बार फिर आरोप लगाए उसी व्यक्ति तो उसमें मजारी ने उत्तर दिया और उसको कहना पड़ा ठीक है कोई बात नहीं आपकी बात में ठीक मानता जो उत्तर दे दिया तो जो उसको यह कहना पड़ा व्यक्ति वही था चुप रहने से काम नहीं चल सकता आपको उत्तर देना पड़ेगा देना चाहिए हाँ कई लोग सब नहीं दे सकते उत्तर तो कम से कम उत्तर ना देना तो हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना कई बार क्या होता है देखा आपने तो कई बार का समर्थन कर बैठता है व्यक्ति हाँ हाँ हाँ ठीक है वो रोचक बात सुनाता है बड़ी अच्छी भाषा में बोलता है और ऐसा दिखता है कि बड़ी अच्छी बात कह रहा ये है ना हाँ हाँ ठीक है तो वो व्यक्ति हाँ हाँ कर जाता है वहां कम से कम उत्तर नहीं दे तो कह देखो मैं नहीं जानता इस विषय में मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा ये कहो ये मैं आपको बोलने के ढंग पद्धति सुना रहा हूं बातचीत करने में ध्यान देना जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो कहने वाले से पूछना चाहिए आपकी बात मत प्रमाण क्या है ये है पैर उखाड़ने वाली बात कोई भी बात कह सकता है बीस कह सकता है और ये प्रश्न उठाने पर आपकी बात में प्रमाण क्या है वो एक का भी कर, वो स्थापना करके पुष्टि नहीं कर सकेगा आपको हम यहां दर्शन के ऊपर आते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो समस्याएं मानवीय की जो वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सकते जिनको वो दर्शनों कारण सुलझाएगी न्याय दर्शन पढ़ो और योग दर्शन पढ़ते हैं आप कभी सांख्य पढ़ते हैं आप इन दर्शनों की विद्या ऐसी है कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर और दूसरे का उत्तर दे सकेंगे केवल हम ये नहीं कहते भाई ऐसा ध्यान करो ऐसे जप कर लो ऐसे बैठे रहो बैठ मौन रहो पढ़ने पढ़ाने का कोई वो नहीं है ये व्यक्ति को ऐसी स्थिति व्यक्ति को महान नहीं बना सकती कभी इसलिए ज्ञान कर्म तीनों को साथ बोलना सीख लो और बोलने के ढंग ये जब ऐसी स्थिति आती है तो उस समय उस व्यक्ति से प्रमाण पूछ लो आपके पास प्रमाण क्या है आप कोई प्रमाण बताएंगे तब आपकी बात मानी जाएगी इसलिए किसी भी ऐसे आरोप लगाने वाले को रोकने का ढंग है प्रमाण को और वो प्रमाण क्या देगा क्या नहीं देगा वो आपको जानना पड़ेगा कि प्रमाण कैसे दिया जाता है और उसको सुना कैसे जाता है और उसका फिर उत्तर कैसे दिया जाता है इसके लिए ये दर्शनों की विद्या आपको काम देगी मैं ये समझता हूं जो दो चार कक्षा भी पढ़ा व्यक्ति है और हमारे शिक्षण शिविरों में अच्छी तरह भाग लेता है दो चार छह बार उस व्यक्ति को बोलना पुष्टि करनी गलत बात का खंडन करना उत्तर देना सिद्धांतों का परिज्ञान वैदिक परंपरा का परिज्ञान दर्शनों का परिज्ञान उपनिषदों का परिज्ञान वेद के विषय में मन के विषय में विविध ज्ञान इसको चार पांच कक्षा वाले को हो सकता है आप ये न मानिए कि हम इतना सुनकर रह जाएंगे हम प्रचार कर देंगे उल्टी चीजों को नहीं रोक सकेंगे एक एक व्यक्ति सैनिक की तरह खड़ा है आचरण में भी सैनिक की तरह होना पड़ेगा और बौद्धिक स्तर पर भी सैनिक और त्याग की दृष्टि से भी होना पड़ेगा अभी सुन रहे थे आप अपने स्तर पर उन्होंने इतने त्याग की बात की इस कार्य को मैं अपने ऊपर लेता हूं धनवान व्यक्ति है वो शरीर से काम नहीं कर पाएगा पर वो धन की दृष्टि से कहता है ये उत्तरदायित्व मैं लेता हूं ये त्याग का भाव है क्यों धन लगाते हैं यहां क्यों यहां खर्च करते हैं ये बुद्धि का काम है वो ये समझाएगा कि मैं इसलिए यहां धन खर्च करता हूं नहीं तो आप उससे प्रभावित हो गए यहां स्वयं देना मन कर देंगे उत्तर उसको देना पड़ेगा आचरण की दृष्टि हम जो सुनते और पढ़ते वो हमारे आचरण में होता है हम वैसा ही बोलेंगे वैसा ही करेंगे इसलिए बौद्धिक दृष्टि से आचरण की दृष्टि से और त्याग की दृष्टि से हमको ये बातें करनी पड़ेगी आपके मन में किसी के मन में कोई बात हो खर्चे के विषय में वो और कोई हो तो आप यहां सीधे पूछिए अलग बैठ के पूछिए और पत्रव्यवहार से पूछिए परंतु सुनी सुनाई बातों को कहीं लिखी हुई बातों को दूर से कभी भी नहीं माना ये प्रक्रिया ऐसी है कि राजनीति को समझते हो ना आप राजनीति जो गली श्री राजनीति ये कवि राजनीति का डेमोक्रेसी का बना हुआ है परिवारों को समाज को राष्ट्र को वो ध्वस्त कर रहा है वही दिमाग प्रभावित करता है और कुछ संशय में पड़ जाते हैं कुछ मान लेते हैं कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें अब सुनो आपने संकल्प लिए व्रत लिए ये अपने अपने ढंग के व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राष्ट्र के स्तर पर आपको समझ रहे संकल्प लेके वर्ष लेके उनको याद नहीं रखते और जो लिया है उसे उल्टा करते हैं तो याद रखना आगे नहीं बढ़ सकेंगे आप जो संकल्प आपने लिए उनको भूल जाना और उसे विपरीत आचरण होने पर उसको नहीं जानना उसका परित्याग नहीं करना या दंड लेकर के पुनः आरंभ न करना ये आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देंगे एक मनोविज्ञान जो व्यक्ति शत प्रतिशत बात ठीक कहता है ठीक लिखता है ठीक उपदेश करता है और आचरण नहीं करता उस व्यक्ति का अपना विश्वास अपने सिद्धांत से दूर चलेगा फिर से सुनो एक व्यक्ति सिद्धांत को स्वीकार करता है प्रस्ताव पारित करता है पढ़ता भी है सुनता भी है पर स्वयं उसका आचरण नहीं करता उस व्यक्ति का अपने ही सिद्धांत के ऊपर से विश्वास उठ जाता क्या समझ में आया स्वयं अपनी मान्यताओं से उसका विश्वास उठ जाता है कोई प्रयोग करके देख दूसरा प्रभाव जो आपके संकल्प व्रतों को सुनने वाले हैं हम और दूसरे आपके उस उल्टे आचरण को देख करके हमारा विश्वास भी आपके ऊपर से उठ जाएगा और यदि हम जैसा आपको उपदेश देते और आचरण में नहीं लाते तो हमारे ऊपर से भी आपका विश्वास उठ जाएगा इसको रोकने के लिए इसको हटाने के लिए व्यक्ति को जैसी करनी वैसी कथनी जैसी कथनी वैसी करनी हम तो इस आदर्श पर चलते ये अलग बात है हम जो तो त्रुटियां होती हैं हो सकती हैं अल्पजेता के कारण उनको हम त्रुटि मानते हैं और स्वीकार करते हैं और आगे में होने का प्रयास और हम याद रखिए पर आदर्शवाद को नहीं छोड़े वो तो वैसा ही मानना और जैसा जाना जैसा माना वैसा ही वाणी से बोलना और जैसा वाणी से बोला वैसा ही आचरण में करना इसके विपक्ष में हमको कितना ही धन मिले कितना ही सम्मान मिले और कितने ही आपत्ति आगे खड़े हो जाए पर हम असत्य को मानने के लिए तैयार उद्यत नहीं है तो हम ठोकर खा सकते अल्पत पूछते ही फिर वहीं खड़े में पश्चाताप करेंगे ठोकर लगी है भूल हो गई है पर हम हाँ, उस भूल को फिर करना शुरू कर दें अथवा उस भूल को कहें कि हो गई जी हो ही जाती है कोई बुराई तो है नहीं वो एक बहन आई थी बंबई से आई थी ना हम बंबई वाले आए हुए थे आपकी वहां उसने घर पर जाकर के और इतने बच्चों को आठ दस पंद्रह बच्चों को बुलाती है और उनको वैदिक प्रशिक्षण देती है बम्बई में क्रियालु यहां आई थी उन्होंने और उन्होंने अच्छा काम किया वो बीच है में एक रोचक बात सुना दी थी उसने और वो सुनाई थी मेरी सुनाई हुई लेकिन काम बहुत अच्छा किया और काम उसने बहुत अच्छा किया तो बच्चों को बुलाना वैदिक धर्म की शिक्षा देना और इस प्रकार से मैंने कहा इन्होंने तो क्रिया रूप दे दिया उसने रोचक बात ये सुनाई थी मैं कहता हूं भाई गृहस्थियों को जब हम कहते तो दोनों समय संध्या किया करो दैनिक यज्ञ किया करो स्वाध्याय भी किया करो कहते जी बात तो ठीक है फिर हम कर नहीं सकते क्यों हम गृह तो ये मैं आपको सुना रहा था कि ये जो स्थिति है व्यक्ति की हमारी हमारी स्थिति ये है ये जो अवसरवाद है आज और सर बात समझिए जैसा स्तर आए वैसा मोड़ दे दो झूठ बोलने का मौका आए झूठ बोल दो सत्य बोलने का अवसर आए सत्य बोल दो और न बोलने का अगर मौन रह जाओ मन में कुछ और रखो बाहर कुछ और कहो ये भयंकर अवसरवाद है जो मानव जाति का पतन इससे हुआ है और, और होगा इसको नहीं रोका गया इसको रोकने के आदर्श थे वो ऋषियों ने बताई थी ये अलग विषय है कि कहीं कहीं ये राजनीति होती है उसमें उधर उधर करते रहते हैं लोग पर याद रखना एक लोग कुशल करके हों और होने चाहिए जो सर्वथा सर्वदा सत्य ही मानते सत्य ही बोलते सत्य ही करते जब समाज में ऐसे आदर्श व्यक्ति नहीं होते तो समाज का ढांचा राष्ट्र का ढांचा गिरेगा मैं ये नहीं कहता ये संभावना कम हो गई सौ के सौ लोग ऐसे हो जाए पर इतना याद रखो कम से कम एक लाख में कोई एक तो हो क्या कम नहीं एक लाख में एक तो हो धरती पे तो उतारने वाला लाख की मैं छोड़ देता हूं अब करोड़ में एक हो जब करोड़ में एक नहीं है लाख में भी एक नहीं तो कौन मानेगा कौन जानेगा कि सदा सत्य बोलो कौन ये कहेगा कि सत्य को धरती पर उतारा जा सकता नहीं हो सकता साक्षात व्यक्ति जो धरती पर उतारता है और कभी भी संधि नहीं करता अपने से संधि नहीं करता झूठ से दूसरे से नहीं करता जब समाज में राष्ट्र में ऐसे लोग नहीं होंगे कि सत्य की स्थापना नहीं की जा सकती न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती कोई व्यक्ति यह साथ नहीं कर सकता कि सर्वदा सत्य बोल के योगी बना जा सकता जी के आधार पर जाति देश काल समय अनुमा छन्ना सार्वभौमा महावर्तम यम नियमों का पालन करता हुआ योगी आगे बढ़ता है और पत्नी कहते इतने से काम नहीं चलेगा जाति के कारण से देश के कारण से और काल के कारण से और समय के कारण से चारों से बाधित न होने वाले को जो सत्य आदि का पालन करेगा इनमें से कोई नहीं रोक सकता चारों में से वही व्यक्ति योगी बन सकता दूसरा व्यक्ति योगी नहीं बनेगा जब योगी नहीं बनेगा तो योगी नहीं है तो संसार में पूरे धर्म की स्थापना की नहीं जा सकती संचालन हो ही नहीं सकता यह अलग बात है कि अपने अपने स्तर पर लोग चलते पर एक आदर्श उसके सामने रहता है वो कहते हैं हम वैसा बनेंगे जैसे ये आदर करें उससे योगी बनते हैं भले ही थोड़ी संख्या में हो उससे राष्ट्र का सुधार राजनीति का सुधार आश्रमों का सुधार होता है यदि ये आदर्शवादी न हो तो समाज और राष्ट्र को विश्व को कोई टिका नहीं देख सकता पत्ते की तरफ घूमेगा ये संसार आज जैसे घूम रहा है आप देखते काला अंतर में क्या होगा बीस वर्ष पहले जितना सत्य का पालन करते थे दस वर्ष में फिर देखा आज फिर पंद्रह वर्ष में देखिए उत्तरोत्तर काल में अति छल कपट झूठ का प्रयोग घरों में होता है पिता पुत्र झूठ बोलते हैं पति पत्नी झूठ बोलते हैं गुरु शिष्य झूठ बोलते हैं सिन्यासी सिन्यासी के चेले झूठ बोलते हैं और क्या कहा नहीं बोलते तो याद रखिए हमारा जो अपना वो है आदर्श वेद का और ऋषियों का है हम इसी को मान के चलते और मेरा अपना जो विचार यही है कि ये जितने ब्रह्मचारी यहां पढ़ते हैं पढ़ पाए और ये जितना भी हुआ मैंने इसी दृष्टि से परिश्रम किया ये सारे आदर्शवादी बने अब ज्ञानेश्वर जी विवेक भूषण आदि ये विचार करेंगे कहां खड़े हैं इनके जो प्रयोग होते हैं वो भी इसी आदर्श के लिए ही होते हैं और इनमें जो त्रुटियां होती है मैं बताता रहता हूं अब ये आदर्श से इधर उधर न हो जाए इनको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी इसकी तैयारी कितनी है पता है ज्ञान को धेरी पर रखो कहो मैं आदर्शवादी कुछ समझ में आया मृत्यु को हाथ में ले लो मौत को हाथ में ले लो और फिर कहो कि मैं सत्यवादी हूं नहीं इस, इस स्थिति के बिना कोई व्यक्ति सदा सत्य बोल नहीं सकता आपका क्या अनुभव बताइए संधि होता नाम की चीज नहीं है यहां और इसके साथ साथ मनुष्य अल्पज्य है त्रुटि हो तो झट मानो फिर वहीं पर अल्पज्य होने से इससे लौकिक सुख की वृद्धि और ईश्वर की प्राप्ति होती है ये ऐसा सत्य है बिना सत्य के आधार पर चले कोई व्यक्ति लौकिक सुख को उपलब्ध नहीं कर सकता और बिना पूरे सत्य के फिर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा नहीं है और हम ये चाहते हैं धरती पर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये स्थिति बनाई जाए हम दो भाग बना सकते हैं कुछ लोग ये कहेंगे हम आदर्शवादी हैं बहुत कम संख्या में और कहेंगे हम कभी भी सर्वदा सर्वथा सत्य मानेंगे बोलेंगे हजारों में कही लाख में वो वर्ग एक है दूसरे लोग ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोलना अच्छा है वो कहेंगे हम कमजोर हैं हम निर्बल हैं संस्कारों के कारण हम इसको बुरा मानते हैं पर बोलना पड़ता है जैसे आप यहां आगे खड़े होते ना नौकरी वाले देखना वो ये कहेंगे भाई झूठ है तो बुरा पर हमको बोलना पड़ता है पर हम भी इसको अच्छा नहीं मानते ये दूसरे नंबर के लोग ये कहेंगे तब विश्व का सुधार होगा ये दूसरे नंबर वाले क्या कहते हैं कि आज सत्य बोलना हानिकारक है सत्य बोलने वाला व्यक्ति सब जगह मार खाता है कचहरी में जाओ आपने सुनाया कितना कहीं किसी भी भाग में जाओ और वो ये पुष्टि करता है मैं जो झूठ बोलता हूं ये बुरा नहीं है ये सिद्ध करता है व्यक्ति होना ये था आदर्शवादी आदर्श वो बोलेंगे और वो चलेंगे वो नीचे दूसरे नंबर वाले लोग कहेंगे ये ठीक है हम ऐसा ही वहीं पहुंचना चाहते हैं पर हमारे बस की बात अभी नहीं है हम अभी कमजोर हैं इस कमजोरी को दूर करेंगे ये है हानिकारक एक बार की घटना सुनाऊ बीच में आपकी थकान भी उतरे स्वामी समर्पणानंद जी फिर सन्यासी बने थे नाम था उनका मेरा पक्ष आरंभ से यह जा रहा है आज से 48 वर्ष हो गए मेरे सत्य के प्रयोग इसमें एक दूसरे विभिन्न जारी थे मैंने पक्ष ये ले रखा था कि सदा सत्य बोलना ठीक है उसने पक्ष लिया था कि नहीं कहीं कहीं झूठ बोलना भाई ठीक है तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया मैंने कहा स्वामी जी आप अपना निर्णय चल के देखो भाई सदा सत्य बोलना तो ठीक है यही आदर्श है और झूठ बोलना अपनी कमजोरी से बोला जाता अच्छा नहीं सीधी बात ये कहो कमजोरी से बोल रहे हैं हम अच्छा नहीं है अच्छा मानने वाला झूठ में बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है झूठ में बढ़ता जाता है फिर हो जाता तो ध्यान दो ये बातें मैंने सुनाई हमारा जीवन हमारा दृष्टिकोण क्या है दूसरी बात और सुन लो कि लौकिक उन्नति करते हुए भौतिक विज्ञान धन संपत्ति न्याय से कमाते हुए व्यक्ति लौकिक स्तर पर उन्नति करते हुए व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करे ईश्वर प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है हमारे विद्यालय का लक्ष्य ये और जब ये लक्ष्य बनता है व्यक्ति का अगर प्राप्ति तब उसकी बुराई जो लोक में होती है झूठ सर कपट वो समाप्त होती चली जाती है और जब भोग लक्ष्य बनता है तो जितनी बुराइयां होती हैं वो व्यक्ति माती चली जाती है कभी देख लेना ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति को लेकर चलता है वो यम नियमों का पालन करता है उसे इधर उधर नहीं होना चाहता और भोग प्राप्ति वाला यम नियमों का विरोध करता है और वो नीचे नीचे जाता हुआ पता नहीं क्या कुछ करता है हम चाहते हैं ये भोगवाद इस समय भयंकर स्थिति में उभर के आया है और विश्व को इसने दबा डाला है बुरी हालत व्यक्ति की कर दी है ये स्थिति जो है आज हम यदि सारे मिलकर कुछ करेंगे सम्मिलित होकर तो इसको रोका जा सकता है अन्यथा मानव का दिमाग ही बदल दिया भोगवाद ने छल कपट का प्रयोग झूठ का प्रयोग अन्याय का प्रयोग वो धारावाही हो रहा है और उसको कर्तव्य समझने लग गया है व्यक्ति छोटे छोटे बच्चे चार वर्ष के बच्चे पांच वर्ष के बच्चे झूठ बोलने का ढंग अच्छा सीख लेते हैं कहां सीखते हैं माताओं उत्तर ढूंढ लो कौन सिखाता है है जी माँ सिखाती है पहले पहले मां सिखाती है फिर पिता सिखाता है फिर अध्यापक सिखाता है स्कूल में फिर संबंधी सिखाते हैं समाज सिखाता है फिर राजा सिखाता है और फिर वह स्वयं सीखता है जवानों में इतनी जगह झूठ का पाठ पढ़ाया जाता है अब कहते थे राजनीति वाले से सहयोग लो फलानी से वो मांगो इससे वो मांगो धनवान से वो मांगो हमसे हमारा नाम नाम सुनते ही डरेगा वो कैसे संबंध जोड़ेगा हमारे साथ में नहीं समझे मेरी बात यदि हमारा पता चल जाए क्या कि मेरी झूठ को विश्व के बीच में कहेंगे तो वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे धनवान भी करते रहते बेचारे कि स्वामी जी के पास हम जुड़ तो जाए और हमारी जो भूले हैं ये सब के बीच में कह देंगे वो भी नहीं मिलेंगे हमारे तो ये स्थिति इस समय हमारे सामने है पर याद रखना सिद्धांत को ईश्वर की दृष्टि में जो ठीक काम है वो ठीक है उससे उन्नति होगी हम उसी को करें ईश्वर की दृष्टि में जो गलत है और दूसरा स्थान ऋषियों का उनके ग्रंथों का उनकी दृष्टि में जो ठीक काम है वो बिल्कुल ठीक है और हम उसी को करेंगे उनकी दृष्टि में जो गलत है वो गलत है उसको हम नहीं करेंगे महत्व की बात यह है सारे जीवन में सारे विश्व में एक ही बात है ईश्वर की दृष्टि वेद की दृष्टि ऋषियों के ग्रंथों की दृष्टि में जो अच्छा है वो अच्छा है हानिकारक कभी नहीं होता उसको हम करेंगे ईश्वर के गुणकरण स्वभाव वेद और ऋषिकृत ग्रंथों के विरुद्ध जो है हम उसका खंडन करें आप तैयार है तो आप क्या करो या कुछ नहीं करो है जी हाँ, है जी हाँ, कितने तो वो सो ही रहे होंगे तो हथकड़ा क्या करेंगे <laughs> ठीक है वो जो सोया वो वो हथकड़ा कैसे करेगा जब हथकड़ा कर लेंगे असल में देखिए सोचेंगे क्या हो रहा है अब आप डरते भी होंगे खड़ा तो कर लें पर और क्या हो <laughs> तो एक व्यक्ति इतना डरता है कि जी मैं संकल्प नहीं लेता मैं व्रत नहीं लेता क्योंकि वो फिर टूट जाता है और ये जितने संकल्प लेने वाले हैं सारे झूठे हैं क्यों पहले तो ये संकल्प लेते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं मैं लेता ही मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं वो यही जट करना चाहता अब जो व्यक्ति चलता ही नहीं बैठा बैठा बात बनाता है और एक चलता है गिर जाता है वो न चलने वाला अच्छा या उठ के गिरने और उठने वाला अच्छा एक व्यक्ति ने कहा कि संकल्प आप बोलो सत्य बोलते या नहीं बोलते पहले तो मुझे उत्तर देता है देखिए जी सारी दुनिया ही झूठ बोलती है पहले तो वो ये कहेगा तो फिर हम कहेंगे अच्छा संकल्प लो ना आप अपने लिए वो कहते देखो मैं आपके सामने झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके सामने हाँ और बोलूंगा हाँ मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं सत्य का वर्त ले लूं और टूट जाए तो मुझे बुरा लगता है और ऐसे खुली छुट्टी है उसकी झूठ बोलने की तो ये की बातें हैं संकल्प लेके चलो ईश्वर व्रति है अनादिकाल से संयम एक नियम ईश्वर का चलता चला आया है यदि हम उसका अनुकरण करते ईश्वर व्रति है व्रतों का पालन करने वाला और करवाने वाला है हम भी व्रती हैं और व्रति होना चाहिए और ये व्रत जब टूट जाते भंग होते तो प्राश्चित करो वहीं पर जाकर करेंगे आप क्या कल्पना करेंगे मन को जीतना कोई साधारण बात नहीं पर असंभव तो नहीं है आप पीछे का मेरा अनुभव इतना लंबा है बहुत है भाई हमने शरीर से भी छोड़ दिया उन चीजों को पानी से भी हम वहां जाना चाहते पर मन में वही बात क्या समझे आप मन, मन नहीं मन में वही इच्छा चोरी करना छोड़ दिया शरीर से कभी चोरी नहीं करनी वाणी से भी नहीं करनी पर मन से मन में इच्छा होती अब देखते हैं कब इच्छा छूटेगा इससे ऐसा दिखता है कि मन से छोड़ना तो कुछ संभव है आंखों के सामने चीजें आती हैं सुंदर सुंदर चीजें आती हैं हमने निर्णय किया कि इन सुंदर चीजों को देखने से व्यक्ति के मन में राग द्वेष पैदा हो जाते हैं विकार पैदा होते हैं तो आंख बंद कर लो वहां तक तो ठीक है <laughs> और जब आंख खोलनी पड़े और आगे सुंदर चीजें आए तो क्या होगा मन में वही बुरे विचार ये तूफान आंतरिक तूफान हमने युद्ध को जीतने का प्रयास किया और युद्ध है एक प्रकार का ऐसा युद्ध है बार ऐसा युद्ध नहीं मिलेगा और ये युद्ध को हम जीत सकते हैं जीता जा सकता है ईश्वर की सहायता से योगाभ्यास से समाधि के अभ्यास से सत्पुरुषों के संग से ऋषि ग्रंथों के पढ़ने से हम इनको भी जीत डालते हैं और फिर हम समाज को राष्ट्र को बदलने का बल प्राप्त कर लेते हैं इसलिए बात मैं जितनी कहता चले जाऊं उतनी थोड़ी कितने क्षेत्र हैं कहां कहां पर कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखो युद्ध करना सीखो अज्ञान से अविद्या से अन्याय से पूरी से क्या सीखोगे कितनी बात याद रखोगे कम से कम सारी तो याद रहेंगे चार कौन सी अविद्या का तो नाश करेंगे और विद्या की स्थापना करेंगे अधर्म अन्याय असत्य का नाश करेंगे सत्य न्याय धर्म की स्थापना करेंगे कितने हो गए है निर्बलता बुरा बल निर्बलता भी उसी में है और दुष्ट बल है जी समझे निर्बलता और दुष्ट बल की का विनाश करेंगे और सच्चे बल की शक्ति की स्थापना करेंगे आगे बात सुनिए या नहीं आई अभी क्या बचे अभी दुर्बलता उसको निकालेंगे और जो दुष्ट बल है और उसके स्थान पर बल की स्थापना करेंगे अब आगे चलो दुख कलेश अशांति का विनाश करेंगे और क्या करेंगे सुख आनंद की स्थापना करेंगे चार सौ तो याद रख लोगे कम से कम है रखोगे तो अब हमारा समय उस दिनक्रिया के लिए उपस्थित है और जितना मैं समझाऊं उतना ही कम रहेगा ये ज्ञानेश्वर जी विवेक जी सुनते आ रहे हैं कोई पंद्रह वर्ष से और कोई बीस वर्ष से इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी है व्याकरण निरुक्त दर्शन आधुनिक आधुनिक शिक्षा से भी पर याद रखना ये मेरे विषय को अभी कम ही समझ पाए अर्थात जो बहुत बड़ा भाग है वो इनको अभी समझना है इतने वर्षों के पीछे भी तो इसको ही भी ये समझेंगे अब ये नहीं कि समझाई नहीं है बहुत समझा बहुत आगे बढ़े पर ऊंचाई बहुत अधिक है बहुत आगे बढ़ना है एक बाहर का विज्ञान है शब्दार्थ संबंध का विज्ञान उसमें व्यक्ति सफल हो जाता है पढ़ाने में भी सफल मोटा आचरण में सब पर ब्रह्म विद्या का जानना सबसे कठिन विषय है ईश्वर साक्षात्कार का जो विषय है वो साधारण विषय नहीं है पर असंभव नहीं है मेरा मतलब है कि वो सब कामों से सबसे कठिन यदि काम है संसार में तो ईश्वर साक्षात्कार है और सबसे अधिक लाभप्रद है तो दुनिया में ईश्वर साक्षात्कार उसके तुलना में कोई भी वस्तु तत्व नहीं आ सकता इसलिए विषय बहुत गंभीर लंबे हैं और हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और मिल करके चलेंगे अपना अपना सहयोग आप देंगे कोई वाणी से ही कोई शरीर से चलते फिरते बस उसको ध्वन है आदर्शों को सामने लेकर चलना उनको पूरा करना है और करवाना और याद रखिए हम अपने आप को एक परिवार के साथ जब नहीं समझेंगे तो मिलकर नहीं मिल पाएंगे सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग ये संगठन का आधार उसमें हम अपने सुख दुख को हानि लाभ को इस उन्नति और अमनति को एक समझ के चलते हैं तो हम अपने तनमन धन को झोंक देते हैं यदि एक नहीं समझते तो इधर उधर व्यक्ति बच जाते हैं और हानि लाभ की जो स्थिति वही होती है जो होनी चाहिए अब याद रखना संकेतों से बातों को समझ गए आप कुछ स्पष्टीकरण हुआ और आगे हम इसी रूप में चलेंगे और अपने बालकों को बालिकाओं को ये वैदिक परंपरा में ढालने का दिन रात प्रयत्न करना है आपने है जो युवक अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है विवाह संस्कार करवाने की बात सोचते हैं वो वो हमारे लिए पहले से निर्धारित कर दे पहला एक लड़का एक लड़की पुत्र पुत्री होगा वो वैदिक धर्म के लिए होगा क्यों ठीक है, है वो योजना बनाएंगे वो गृहस्थ में जाना चाहते होंगे या जाना चाहेंगे वो आज से ही सोच रहे हमने एक उत्तम संतान बना के राष्ट्र को देनी है उनका आज जो बच्चे आपके पास में बालक बालिकाएं हैं उनमें से एक संतान राष्ट्र को देंगे और जो जवान आज हैं गृहस्थी भी हैं उन्होंने अपना जीवन ही राष्ट्र को देना समझ में मत इतनी शक्ति नहीं है तो दूसरा नंबर पर आ जाओ वो बताए थे ना मैंने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा एक पर तो आगे जमाओगे ये मत कह देना जी हमारे तो सब ठीक है ऐसे कह मत टालना तो इस रूप में चलेंगे हम पर ध्यान देना मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते जिसके जीवन विचारों की अग्नि नहीं जलती चलते फिरती चिनकारी की तरह क्रोध की अग्नि नहीं विचारों की तरंग विचारों के अंदर आग नहीं है बदलो और बदल दो अपने को बदलो और दूसरों को बदल दो ये आग नहीं है तो क्या जीना है वैसे ही खच्चर की तरह घूमते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या जीवन है कपड़े ऐसे वो दो ऐसे करो ऐसे जूता पहन दो ऐसे खरीदो गोरा ऐसे करते रहो और ऐसा कर लिया ये तो हमारे शरीर की रक्षा के लिए करो अच्छे हो सोचो परंतु विचारधारा को बदलो भारतीयों की विचारधारा में जो दोष आया हुआ है खूब खाओ अच्छे से अच्छा खाओ अच्छे से अच्छे मकान में रहो अच्छे यान स्थान और काम कोई दूसरा करे दिमाग ये रहना चाहिए मैं तन धन से साधन जुटाऊंगा ये भी करूंगा वो भी करूंगा और मेरे शरीर का लाभ कोई और उठाएगा ये निष्काम भावना हमारे मन में जोर देनी चाहिए और उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे आप बदलेंगे निष्काम कर्म तक पहुंचना अनिवार्य होगा बिना निष्काम कर्म के कोई भी व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता कभी भी इन बातों को दिमाग में रखो और ये ढीले जीवन को आज से ही छोड़ो हो गया सो पहन लिया जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था ना हो गया जो हो गया पहन लिया जो पूजा ये उतरेगा तो इसलिए अब हम विराम देंगे और आप बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से मौन रहना बाहर से नए नए लोग आए हैं आएंगे उनको ये देखना है यहां योगाभ्यास में भाग लेने वाले कितने साधक हैं कहाँ बैठते हैं कैसे ये बात करते हैं कैसी आकृति में रहते हैं कैसे चलते हैं कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं ये सब देखते हैं बाहर के लिए उसका बुरा प्रभाव और अच्छा प्रभाव डालना आपका काम ध्यान देना हम जिस संस्था में रहते हैं उस संस्था के ऊपर कोई धब्बा नहीं आना चाहिए याद रखना वो संस्था के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए ये व्यक्ति संस्था का है और देखो इसका चाल चलो सदा इसको ध्यान में रखो कुल परंपरा वैदिक परंपरा आर्य समाज की परंपरा में कोई ये उंगली कर दे कि ये व्यक्ति गलत काम करता हम नहीं सहन करते तो ऐसे रहेंगे अब इसको यहीं पर Thank you. ईश्वर की मैत्री ईश्वर सामर्थ्य से हम आज अपने इस योग शिक्षण जीवन अभी अभी बड़ी उत्साही घटना